स्मरण सर्वाधिक विश्वास के योग्य परमात्मा प्रणोदनी ओ धन प्रेमी सज्जनों परमात्मा को उनके भक्त विभिन्न विशेषणों से संबोधित करते हैं उन संबोधनों के माध्यम से परमात्मा के प्रति अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं अपने अंदर परमात्मा के बारे में और संस्कार डालते हैं संबोधनों से भक्त के भाव भी पता लगते हैं कि वो परमात्मा को किस रूप में देख रहा है जान रहा है परमात्मा को किए जाने वाले संबोधनों में अगला क्रम लेते हैं दयानंद ने आर्याभिविनय के प्रथम प्रकाश में प्रथम मंत्र के व्याख्यान में जो बहुत सारे संबोधन दिए हैं उनमें अगला संबोधन है हे विश्वास विलासक विश्वास विलासक विश्वास का मतलब भरोसा आश्वस्ति मन में निश्चिंतता का भाव होना निडरता का भाव होना दृढ़ता का भाव होना विश्वास और विलासक का मतलब होता है सौंदर्य है चमक तमक किसी बात को बहुत अच्छे ढंग से प्रकट करना प्रकाशित करना परमात्मा विश्वास का विलासक है विश्वास को सौंदर्य प्रदान करता है विश्वास को पूर्णता की तरफ ले जाता है विश्वास में चमक लाता है तेजस्विता लाता है शुद्धता लाता है विश्वास को बढ़ाने वाला होता है हमारे मन में परमात्मा के प्रति विश्वास होता है किस बात का विश्वास होता है परमात्मा के अस्तित्व का विश्वास होता है परमात्मा है यह हमें विश्वास है परमात्मा के विभिन्न स्वरूपों के कारण बहुत से लोग परमात्मा को विश्वास रूप ही कहते हैं परमात्मा क्या है परमात्मा एक विश्वास है परमात्मा एक वास्तविक वस्तु नहीं है परमात्मा मात्र एक विश्वास है क्योंकि परमात्मा के भिन्न भिन्न रूप लोग स्वीकार करते हैं विभिन्न देवी देवताओं को अथवा जो परमात्मा को निराकार भी मानते हैं वो परमात्मा का अलग अलग स्वरूप प्रकट करते हैं बताते हैं इन भिन्नताओं को देख करके किसी व्यक्ति के मन में ये आएगा कि आखिर परमात्मा है क्या यदि परमात्मा एक निश्चित वस्तु होता पदार्थ होता तो उसका स्वरूप भी समान ही होता जैसे पानी के बारे में सब समान बोलेंगे पानी कैसा होता है क्या होता है भिन्नता नहीं आती लेकिन परमात्मा के बारे में इतनी भिन्नताएं हैं और सब अपने को ठीक मानते हैं दूसरे को गलत मानते हैं तो परमात्मा वास्तविक वस्तु नहीं है वो मात्र विश्वास है परमात्मा तो विश्वास की चीज है जैसा विश्वास करो बस वैसा ही परमात्मा है ऐसा जो लोक में प्रचलित है वो गलत अर्थों में है वहां विश्वास का मतलब ये लेते हैं जैसा मन में मान लिया वैसा ही परमात्मा है जैसी भावना जैसा विचार बस परमात्मा वैसा ही है ये तथ्य सत्य नहीं ये विज्ञान नहीं और ये धर्म भी नहीं जो वस्तु जैसी होती है उसको वैसा ही मानना स्वीकार करना ये विश्वास कहलाता है जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही स्वीकार करने लग जाना हाँ ये ऐसी ही है ये ऐसे ही कर्म करता है ये विश्वास कहलाता है और जो वस्तु जैसी है वैसा न मानना भिन्न रूप में मानना ये विश्वास नहीं अविश्वास होता है मिथ्या विश्वास होता है भिन्न रूप में मानने को मिथ्या विश्वास कहेंगे ये विश्वास नहीं है और कोई वस्तु हो ही नहीं बस वैसे ही मान लिया हो उसको तो विश्वास कह ही नहीं सकते तो लोक में जो प्रचलित है कि परमात्मा तो एक विश्वास है नहीं परमात्मा एक पदार्थ है हम विभिन्न प्रमाणों से उसको जानते हैं शब्द प्रमाण से अनुमान से और जो साक्षात करते हैं वो प्रत्यक्ष और ये सब जान करके परमात्मा के प्रति जो भाव उत्पन्न होता है परमात्मा है उसके अस्तित्व का निश्चय होना ये परमात्मा के प्रति विश्वास है वो है परमात्मा कैसा है ये भी विश्वास का बिंदु बनता है परमात्मा सर्वव्यापक है इसका विश्वास है निश्चय है परमात्मा चेतन है ज्ञानवान है इसका विश्वास है परमात्मा सर्वशक्तिमान है इसका विश्वास है परमात्मा न्यायकारी है इसका विश्वास है परमात्मा सदा हमारे हित के लिए कार्य करता है आत्माओं के हित के लिए कार्य करता है इसका विश्वास है यदि संसार में कोई अन्याय करता है तो उसका वो दंड देता है अन्याय से जो पीड़ित होता है उसकी पूर्ति करता है क्षतिपूर्ति करता है इसका विश्वास है परमात्मा मुझे सदा देख रहा है जान रहा है सुन रहा है इसका विश्वास है तो परमात्मा के प्रति इन विभिन्न प्रकार के विश्वास को परमात्मा बढ़ाता है और प्रकाशित करता है उनमें और चमक लाता है उनको और दीप्त करता है उनमें और सौंदर्य लाता है हम अपने ज्ञान के अनुसार परमात्मा के प्रति विश्वास रखते हैं लेकिन हमारा ज्ञान शुद्ध हो ये आवश्यक नहीं है परमात्मा को बहुत कुछ अंश में ठीक मानते हुए भी उसके प्रति कुछ भ्रांति युक्त ज्ञान भी हमारा हो सकता है मिथ्या ज्ञान भी हो सकता है ऐसा हमारा विश्वास अपूर्ण विश्वास है और ऐसे विश्वास को पूर्ण बनाना ये परमात्मा करता है हम परमात्मा पर विश्वास करते हैं एक सीमा तक जितना भी ठीक विश्वास करते हैं लेकिन वो अच्छी तरह करते हैं और उसके अनुसार हम आचरण भी करते हैं तो हमारा परमात्मा के प्रति विश्वास और दृढ़ होता जाता है और प्रकाशित होता जाता है और स्पष्ट होता जाता है यह है विश्वास का विलास होना परमात्मा विश्वास का विलासक है विश्वास को और बढ़ाता है जैसे जैसे हम परमात्मा पर विचार करते हैं उसकी सर्वशक्तिमत्ता पर विचार करते हैं वो और अधिक प्रकट होती जाती है जितना हम चिंतन मनन करते हैं उतनी उसकी सर्वशक्तिमत्ता और अन्य गुण भी न्यायकारिता आदि दृढ़ होते जाते हैं स्पष्ट होते जाते हैं और जितना परमात्मा को अधिक जानते जाते हैं उतना परमात्मा के प्रति विश्वास बढ़ता जाता है तो परमात्मा के प्रति जितना भी विश्वास हमारे अंदर उत्पन्न हुआ है उसको लेके जब हम चलते हैं तो परमात्मा हमारी सहायता करता है कि ये आत्मा मुझे मान करके चल रहा है तो हमें ऐसा ज्ञान देता है कि हमारा ईश्वर के प्रति विश्वास और बढ़ता जाता है जीवन की घटनाएं ऐसी होती रहती हैं कि परमात्मा के प्रति और अधिक विश्वास बढ़ता है परमात्मा दुष्टों का विनाशक है दुष्टों की हानि करता है उनको सहयोग नहीं करता अब ये अपने आप में बहुत गंभीरता से कठिनाई से विश्वास करने योग्य होता है क्योंकि समाज में हम ऐसा देखते हैं दुष्ट व्यक्ति बढ़ता हुआ दिखता है धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा से लेकिन जैसे जैसे परमात्मा की न्यायकारिता पर हम विश्वास करते हैं चलते हैं परमात्मा हमारे ज्ञान को बुद्धि को ऐसा बनाता है कि हमें स्पष्ट होता है कि ये जो वृद्धि हो रही है दुष्टों की ये परमात्मा नहीं कर रहा है परमात्मा तो उनके लिए सुधार के लिए उनका क्षय ही करता है दुष्टों को बढ़ाता नहीं है वहां भी परमात्मा की न्याय व्यवस्था हमें दिखती है अन्य प्राणियों को देख करके हमें न्याय व्यवस्था का ज्ञान होता है तो परमात्मा ने जिस भी तरह से ये संसार बना रखा है उसको जितना हम देखते हैं परमात्मा पर और अधिक विश्वास बढ़ता जाता है इसलिए परमात्मा विश्वास का विलासक है पढ़ाने वाला है जितना जितना हम परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करते जाते हैं उतने उतने अंश में हमारे अंदर और शांति संतोष सुख निर्भयता आती जाती है परमात्मा हमारे विश्वास को बढ़ाता है उपासना के फल के रूप में परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना में की जाती है उसके फलस्वरूप आत्मा के बल को बढ़ने की बात आती है कि आत्मा का बल बहुत बढ़ जाता है इतना बढ़ जाता है कि वो किसी दुख से घबराता नहीं है ये विश्वास ही तो है जो आत्मा का बल बढ़ा रहा है कितना भी बड़ा अन्यायी अत्याचारी हो उससे वो व्यक्ति नहीं डरता है ये बल कहां से आया कैसे आया ये ईश्वर के विश्वास से आया क्योंकि उसे पता है कि ईश्वर के बताए मार्ग पर चलने से ईश्वर की सहायता मुझे सतत मिलेगी मेरी हानि कभी नहीं होगी ये वो विश्वास है जो आत्मा के बल को बढ़ाता है निर्भयता को बढ़ाता है परमात्मा ने वेद मंत्रों के माध्यम से हमारे विश्वास को बढ़ाने का प्रयास किया है उपदेश दे करके और हमारे हृदय में भी प्रेरणा दे करके आनंद उत्साह दे करके विश्वास बढ़ाता है अच्छे कर्मों का फल दे करके हमारे में विश्वास पैदा करता है परमात्मा के प्रति जो सच्चा विश्वास किया गया वो कभी टूटता नहीं है समाज में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि मेरा परमात्मा से विश्वास हट गया है विश्वास टूट गया है मैं इतने वर्षों से उसकी पूजा कर रहा हूं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन मेरे को ये मिला नहीं मैं इतने वर्षों से उसकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं लेकिन मेरे घर में ऐसी दुर्घटना हो गई मेरे साथ ऐसा घट गया मेरे को रोग आ गया इत्यादि बातों को देख करके व्यक्ति परमात्मा के प्रति अविश्वास पैदा करता है उसमें परमात्मा का विश्वास नहीं रहता विश्वास टूट जाता है परमात्मा के प्रति जो गलत ज्ञान है वो तो टूटेगा वो टूटना ही है परमात्मा विश्वास का विलासक है विश्वास का सत्य विश्वास का वास्तविक विश्वास को बढ़ाने वाला है गलत विश्वास तो टूटेगा ही हमने परमात्मा की स्तुति प्रार्थना का फल ये मान लिया कि मेरे को कोई रोग नहीं आएगा तो ये गलत है ये विश्वास टूटेगा ही यदि स्वास्थ्य के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो रोग आएगा किसी ने ये विश्वास कर रखा है कि परमात्मा की पूजा करने से स्तुति प्रार्थना करने से जप करने से भला होता है अहित नहीं होता अर्थात मेरे जीवन में कोई दुर्घटना नहीं होगी कोई मुझे टक्कर नहीं मारेगा मैं कभी गिरूंगा नहीं चोट नहीं लगेगी ये विश्वास जो कि वास्तव में अंधविश्वास है वो टूटेगा ही परमात्मा इस तरह से रक्षा नहीं करता परमात्मा इस तरह से चीजें नहीं प्रदान करता है परमात्मा का सत्य स्वरूप जितना स्पष्ट होता जाएगा और उससे जो विश्वास बनेगा वो विश्वास सदा बढ़ता जाता है वो परमात्मा की सहायता से बढ़ता है तो परमात्मा विश्वास का विलासक है परमात्मा कभी भी विश्वास को नहीं तोड़ता है हम संसार के किसी भी मनुष्य पर विश्वास करें कितना भी विश्वास करें अपने पालतू पशुओं पर विश्वास करें अपने शरीर पर विश्वास करें अपने आप पर विश्वास करें वो विश्वास बढ़ता भी है तो घटता भी है टूटता भी है हमारा किसी के प्रति सत्य विश्वास हो वो भी टूटता है अंधविश्वास मिथ्या विश्वास तो टूटता ही है लेकिन सत्य विश्वास भी दूसरे व्यक्ति तोड़ते हैं किसी व्यक्ति से हम अपेक्षा रखें विश्वास रखें कि ये मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा अनुकूल व्यवहार ही करेगा वर्षों तक का साथ था वर्षों तक परस्पर सहयोग करते थे जिसके परिणाम स्वरूप एक दृढ़ विश्वास पैदा हो गया लेकिन वो भी टूट जाता है क्योंकि व्यक्ति अल्पज्य है अन्याय की तरफ झुक सकता है गलत कार्य कर सकता है कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस पर शत प्रतिशत विश्वास किया जा सके कि इसका विश्वास तो कभी टूटेगा ही नहीं इसके प्रति जो मेरे मन में विश्वास है वो कभी नहीं टूटेगा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता चाहे माता हो चाहे पिता हो बच्चे के मन में माता पिता के प्रति बहुत विश्वास होता है क्योंकि सब कुछ माता पिता ही करते हैं उसके लिए और इतना जो मेरे लिए कर रहा है वो मेरा गलत कैसे कर सकता है ये भाव बच्चे के मन में किशोर के मन में होता है लेकिन वो विश्वास भी टूटते देखा जाता है कमजोर हो जाता है माता पिता में अपने बच्चे के प्रति स्वयं के बच्चे के प्रति बहुत विश्वास होता है बच्चा आज्ञाकारी है हमने उसके लिए बहुत किया है वो हमारे लिए करेगा अटूट विश्वास होता है ये मेरा अपना खून है इसको मैंने उत्पन्न किया है पूरा विश्वास होता है लेकिन वो विश्वास भी टूट सकता है क्योंकि मनुष्य अल्पज्य है अपने स्वार्थ के कारण अधर्म में झुक सकता है कोई गुरु कोई आचार्य शिक्षक जिसने हमें बहुत ज्ञान दिया हमारे लिए बहुत व्यवस्था की लेकिन वो भी विश्वास को तोड़ सकता है अज्ञानता के कारण स्वार्थ के कारण जानबूझकर या अनजाने में वो हमारा अहित कर सकता है और वो विश्वास टूटता है कितना भी न्यायकारी राजा हो जिसके लिए हम कहें कि इस पर तो मुझे अपने से भी अधिक विश्वास है अपने पर हमें बहुत विश्वास होता है ये विश्वास कि मैं अपना अहित स्वयं नहीं करूंगा क्योंकि कोई आत्मा स्वयं अपना अहित जानबूझ के कभी नहीं कर सकता कभी करता नहीं है इतना विश्वास अपने से भी अधिक विश्वास कि हो सकता है मैं अपने लिए कभी अज्ञानता में अपना अहित कर बैठूं लेकिन ये मेरा अहित नहीं कर सकता ऐसा विश्वास किसी राजा के प्रति आचार्य के प्रति माता पिता मित्र के प्रति उत्पन्न हो सकता है होता है उसके शुद्ध आचरण को देख के उसकी न्याय प्रियता को देख के उसकी धार्मिकता को देख करके उसकी निस्वार्थता को देख करके लेकिन वो भी टूटते देखे जाते हैं टूटते हैं कोई भौतिक वस्तु हो उस पर हम जितना विश्वास करते हैं वो टूट सकता है जिस वाहन पर हम अटूट विश्वास रखते हैं कि ये कभी खराब नहीं होगा इतना अच्छा है ये कभी पंचर नहीं होगा वो खराब हो सकता है पंचर हो सकता है जो पाचक हमारा भोजन बनाता है हम उस पर अटूट विश्वास रख सकते हैं कि ठीक ही बनाएगा कभी गलत चीज मेरे को नहीं देगा लेकिन वो भी गलत चीज दे सकता है वो रक्षक जो आठ घंटे हमारी रक्षा करता है बंदूक लेकर के मशीन गन लेके हमारी रक्षा करता है हमारी रक्षा के लिए जान देने तक को तैयार है वो भी विश्वास को तोड़ सकता है अर्थात मनुष्यों में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस पर हम शत प्रतिशत विश्वास कर सकें और नीतिकारों ने एक नीति बताई एक सलाह दी सम्मति दी कि किसी भी व्यक्ति पर पूरा विश्वास कभी ना करें विश्वास करें यथा योग्य विश्वास करें लेकिन अविश्वास की संभावना तो वहां सदैव रहती है उसे भी स्वीकार करना चाहिए इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी से भी सदा आशंका रखे अविश्वास रखे यथा योग्य विश्वास करना ही होता है और विश्वास से हम चलते भी हैं निर्भय होकर परस्पर साथ में रहते हैं रात को सोते हुए हमारा साथी हमारा परिवार वाला हमें मार नहीं देता है उन पर विश्वास किया जाता है उनके दिए हुए भोजन को हम करते हैं पूरे विश्वास के साथ करते हैं कि इन्होंने इसमें विष नहीं मिलाया होगा और उसमें हमें वर्षों तक कोई धोखा भी नहीं होता तो अविश्वास का यह मतलब नहीं है कि हर व्यक्ति के प्रति आशंका ही आशंका रखी जाए नहीं तो वो एक रोग का रूप ले लेगा हम किसी पे पूरा अविश्वास भी नहीं कर सकते हम बहुत हद तक विश्वास भी करते हैं और विश्वास रहता है लेकिन शत प्रतिशत विश्वास किसी पे नहीं कर सकते नहीं करना चाहिए एक दो प्रतिशत पांच प्रतिशत सावधानी आशंका प्रत्येक के प्रति रखनी चाहिए सावधानी तो प्रत्येक के प्रति रखनी चाहिए ये हमारा अपना कर्तव्य है अपने प्रति कर्तव्य है हर चीज के प्रति हर व्यक्ति के प्रति सावधानी तो अवश्य रहनी चाहिए जागरूकता तो रहनी ही चाहिए नहीं तो जब धोखा होता है तो हम कहते हैं मैंने तो विश्वास किया था और इसने धोखा कर दिया ये हमारा भी वहां दोष है कि हमने शत प्रतिशत विश्वास कर लिया जागरूकता तो हमें रखनी ही होती है लेकिन परमात्मा एक ऐसा है अकेला जिस पर हम पूर्ण विश्वास कर सकते हैं जो कभी गलत नहीं करता उसके गुण धर्म ही ऐसे हैं कि वो अज्ञान से युक्त नहीं हो सकता सर्वज्ञ है इसलिए गलत नहीं कर सकता क्योंकि वो पूर्ण न्यायकारी है वो कभी पक्षपात नहीं कर सकता किसी के साथ नहीं कर सकता तो परमात्मा के गुण धर्मों को जितना हम जानते हैं जितना जितना जानते जाते हैं उतना उसके प्रति विश्वास बढ़ता जाता है और परमात्मा चूंकि इस विश्वास को कभी तोड़ता नहीं है इसलिए वो हमारे विश्वास को बढ़ाता जाता है बढ़ाता जाता है वो विश्वास का विलासक है और हमारा जो अपने प्रति विश्वास होता है वो भी परमात्मा के बल से बढ़ता है परमात्मा को स्वीकार करने से बढ़ता है कोई व्यक्ति भ्रांति में अपने ऊपर इतना विश्वास कर ले कि मैं उड़ सकता हूं अब ये विश्वास करना वास्तविक तो नहीं है वो बिना पंखों के बिना वायुयान के नहीं उड़ सकता अपनी सामर्थ्य से अधिक विश्वास भी हम अपने ऊपर करते हैं ये अति विश्वास है जो कि टूटेगा और साथ ही हम अपनी शक्तियों को बहुत न्यून मानते हुए और परमात्मा को अस्वीकार करते हुए अल्प विश्वास में भी चले जाते हैं अपने पे भी विश्वास नहीं होता मैं ऐसा कर सकता हूं जबकि कर सकता है और जो अपने सामर्थ्य को यथावत जानते हैं वे भी अपने पे पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते कि सदा हित ही होगा मैं ये सब कर लूंगा लेकिन जब हम परमात्मा को साथ में मान लेते हैं तो हमारे को अपने ऊपर बहुत विश्वास पड़ जाता है अपनी सामर्थ्य को जानते हुए लेकिन परमात्मा की सहायता भी साथ में विद्यमान है उसके रहते मेरे को कोई डर नहीं है ये बहुत बड़ा विश्वास है आत्मविश्वास साधनों से बढ़ता है जिसका शरीर अच्छा होता है उसमें अधिक विश्वास होता है जब शरीर अति दुर्बल होता है तो अपने पर विश्वास कम हो जाता है जब शरीर वृद्ध हो जाता है तो अपने पर विश्वास कम हो जाता है जब बुद्धि दुर्बल हो जाती है तो अपने पर विश्वास कम हो जाता है जब धन संपत्ति कम होती है तो अपने पर विश्वास कम हो जाता है जब सहयोगी मित्र बंधु कम होते हैं तो अपने पर विश्वास कम हो जाता है और इनके पढ़ने पे हमारा विश्वास बढ़ जाता है आत्मबल बढ़ता है अर्थात साधनों की संपन्नता से अनुकूलता से हमारा विश्वास बढ़ता है और विपन्नता से दुर्बलता से विश्वास घटता है तो जब साधक परमात्मा को स्वीकार कर लेता है तो वो भी एक सहयोगी के रूप में दिखाई देता है परम सहयोगी दिखाई देता है जब इन सामान्य मनुष्यों से हमारा आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है यदि हमारे साथ में 150 व्यक्ति हैं तो निर्भयता से आगे आगे बढ़ते जाते हैं कोई डर नहीं आगे से दस पांच दुष्ट व्यक्ति भी आ रहे हो तो कोई डर नहीं क्योंकि हमारे पास पचास सौ व्यक्ति हैं ये पता है कि सबकी सामर्थ्य बहुत कम है अनंत सामर्थ्य नहीं है अनंत ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी इतना विश्वास बढ़ जाता है इतनी निर्भयता आ जाती है तो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है सर्वज्ञ है उसको स्वीकार करने पर कितना विश्वास बढ़ेगा कितना आत्मविश्वास बढ़ेगा उसकी कल्पना नहीं कर सकते आत्मबल कितना बढ़ेगा उसकी कल्पना नहीं कर सकते वो उस चरम सीमा पर पहुंचेगा पहुंचना चाहिए जहां अविश्वास का कोई चित्र ही ना बचे निर्बलता का कोई क्षेत्र ही ना बचे पूर्ण विश्वास की स्थिति में व्यक्ति पहुंच सकता है तो परमात्मा विश्वास का विलासक है परमात्मा के प्रति जो हमारा विश्वास है उसको वो बढ़ाता है ऐसी व्यवस्था उसने की है और हमारा अपने प्रति जो विश्वास है उसको भी वो बढ़ाता है परमात्मा को स्वीकार करने पर हमें अपने साधनों पर भी विश्वास अधिक होता है अपने मित्र सहयोगियों पर भी अधिक विश्वास होता है क्योंकि साथ में परमात्मा की न्याय व्यवस्था हम लेके चल रहे हैं यदि आरक्षी बल के साथ एक अधिकारी न्यायकारी हो तो हमें उन पुलिस वालों पर भी विश्वास बढ़ जाता है कि नहीं यहां ये गलत नहीं कर सकते गलत नहीं होगा होगा तो ये अधिकारी बैठा है ये ठीक कर देगा जिनके प्रति हमारा अविश्वास है उनके प्रति भी विश्वास बढ़ जाता है यदि परमात्मा साथ में हो और जब हमारा विश्वास बढ़ा हुआ होता है निर्भयता होती है बल बढ़ा होता है आंतरिक बल बढ़ा होता है तो हमारा व्यवहार बदल जाता है अविश्वास की स्थिति असमंजस की स्थिति रहती है सक्रियता को कम करती है बल को कम करती है गति को प्रगति को कम करती है और जितना विश्वास बढ़ेगा उतनी सक्रियता गति उन्नति बढ़ती जाएगी परमात्मा को हम विश्वास विलासक के रूप में देख पाए परमात्मा के प्रति विश्वास हमें करना है हमारा प्रयत्न भी होगा लेकिन परमात्मा उस विश्वास को बढ़ाने वाला है कम करने वाला नहीं है ये भी हमारे साथ में रहे मन में रहे तो परमात्मा के प्रति विश्वास और बढ़ता जाएगा और हमारा अध्यात्म का मार्ग और अधिक प्रशस्त अच्छा होता जाएगा तो परमात्मा को विश्वास विलासक के रूप में मन में रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे ओ